माल्यवन्त अति सचिव तासु वचन सुनि अति सुखमाना तात तव नीति विभूष्मभूषन् सौर जु कहत विभीषन् रिपुत कर सकहत सठ दो दूरी न करौ इहा है कोऊ माल्यवंत गृह गय बहोरी कहीं विभीषण पुन कर जोरी माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा हे तात आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए रावण ने कहा ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं यहाँ कोई है इन्हें दूर करो तब माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे सुमति कुमति सबके उर नाथ पुराण निगम अस कहें जहाँ सुमति तह संपति नाना जहाँ कुमति तह विपति निदान तौर कुमति बसे विपरीता हितयन हित मानहुरिपु प्रीता काल रात निश्चर कुल के रे तह सीता पर प्रीति घनेरी हे नाथ पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएँ सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आबसी है इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है सात चरण गहिमा राखहु मोर दुलार सीता देहु राम कहो अहित न हो तुम्हार हे तात मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो बुध पुराण सुत सम्मत बाणी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दसानन उठार साए खल तो ही निकट मृत्यु अब आए जियसी सदा सठ मोर जियावा रिपुकर पक्ष मूढ़ तो भावा कहसिन खल यस को जग माही भुज बल जाहि जिता मैं नाही विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है अरे मूर्ख तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पड़ रहा है पर हे मूढ़ पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है अरे दुष्ट बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता